भक्तजनों केवट से विदा होकर भगवान राम चित्रकूट बात कर रहे थे उधर अयोध्या से भरत जी माताओं सहित भगवान के दर्शनों को पहुंचे इनको आते हुए देखकर लक्ष्मण जी बोले हे प्रभु देखो के करी पुत्र किस धूम धाम से आते हैं माता ने छुड़ाया घर और ये जब ही छुटवाने आते हैं पर आने दो क्या चिंता है मैं आज इन्हें समझा दूंगा विराम विमुख होने का फल क्या होता है दिखला दूंगा लक्ष्मण जी की ये बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले भरत ही हो राज मद विधि हरि हर पद पाए कबहू की काजी ब्यूंद प्रिय तीर प्यूंद इतने ही में भरत तथा शत्रुघ्न ने पहुंचकर भगवान को प्रणाम किया तब बरु बस लिए उठाए लायक पानिधान भरत राम को मिलन लखे हो सब ही अपान गुरुओं तथा माताओं से भेंट करने के बाद भगवान ने पिता का मृत संदेश सुना तथा दूसरे दिन का संस्कार किया दुखी तो सभी थे परंतु भरत जी की दिशा शोचनीय थी भगवान के पूछने पर वो बोले क्या मन की बात बताऊं मैं चाहत हूँ जाओ जब तुम मैं बन बन भटका कुटले कुमात कलौक लगायो ताको दाग निशामू क्या मन की बात बता श्री राम जी भरत जी को समझाते हुए बोले मम पितु को यशु जग में ठायो कत काहि दुबामु जिन तज दिए प्राण प्रणोहित मैं उनको दोष लगामू जो लौट जवध को जाऊं इस प्रकार समझाकर प्रभु करी कृपा पावरे देने सादर भरत शीश धरि दीनी तब हर्ष विदा कर सब ही प्रभु सीता लखन समय फिरे हर्ष विस्मय सहित आये कर्ण निके